द्वारे दुर्वासा कहते हैं ऋषि आज्ञा का पालन कर आओ हम मिलना अभी चाहते हैं संदेश इसी क्षण पहुँचाओ अत्यंत प्रार्थना की मैंने पर नहीं सुनी श्री मुनिवर ने देहावसान का शाप मुझे दे डाला क्रोधी मुनिवर ने लाचार उन्हें ठहरा कर मैं आया कर्तव्य चुकाने को वे द्वारे पर हैं खड़े हुए प्रभु का उत्तर पा जाने को यदि आज्ञा हो तो आने दो इस जगह तलक उन ऋषिवर को अथवा दिखला दूं धनुष यज्ञ वाला फिर जगत भर को धर्मराज जो खड़े थे बाना मुनिका धार प्रभु के इस क्रम को निरख हसे ठहा मार प्रणाम कर हुए वह क्षण में अंतर ध्यान तब लक्ष्मण से इस तरह बोले दया निधान भैया विधना का लिखा हुआ मिटता है नहीं मिटाए से होनी होकर ही रहती है हटती है नहीं हटाए से संध्या को प्रायश्चित करो सरयू के रुचिर किनारे पर साकेत पधारो पंचभूत काम तंतज स्वर्ग द्वारे पर मुझको भी यहाँ न रहना है पीछे से मैं भी आऊँगा शत्रुघ्न भरत के साथ साथ साकेत धाम ही जाऊँगा अच्छा जब दुर्वासा ऋष को इस जगह बुलाओ आदर से वे निर्दोषी हैं यह सब क्रम बन कर आया था ऊपर से जो आज्ञा कह कर लखन चले नवा कर माथ दुर्वासा मुनि को तुरंत लाए अपने साथ किया बैठने का जबे प्रभु ने प्रिय अनुरोध तप्त तपस्वी हृदय का उड़ा धूम्र सा क्रोध बोले ऋषि अपराध को क्षमिये दया निधान क्रोध रूप बैताल ने नष्ट कर दिया ज्ञान अब दर्शन करे स्त्री मुख काम आ गया हो कुछ जन को है क्या किया क्या कहा पता नहीं हाँ खेद बहुत ही मन को है इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं उसमें कुछ नहीं तुम्हारा था अच्छा कहिए क्या आज्ञा है किस लिए कृपा की है भगवन सदी आज बहुत ही दिनों बाद इस सेवक के लिए है भगवन मुन बोले उस कार्य से आया हूँ भगवान हम लोगों के लिए भी हो कुछ जगह प्रदान जब तप करने के लिए हमें उत्तराखंड बस मिल जाए युग युग तक वही तपोभूम हम तपस्वियों की कहलाए जो भी उपराम जगत से हो वे जाकर वहाँ निवास करे स्वच्छंद वहाँ पर सन्यासी पालन अपना सन्यास करे तब बोले मुन वृंद का है सब जगह प्रवेश उत्तर क्या उनके लिए है सारा देश तब तक सर्वत्र रहे हैं हम अब भी सर्वत्र रहेंगे वे पृथ्वी के कोने कोने में स्वच्छंद सदा विचरेंगे वे पर आप आज्ञा देते हैं तो यह भी कार्य करा दूंगा उत्तराखंड ऋषि मुनियों की तब भूमि प्रधान बना दूंगा विदा हो गए महामुनि कहकर जो आदेश पुत्रों तक पहुंचा दिया प्रभु ने यह संदेश उसी दिवस दोपहर को बैठे जब रघुनाथ गुरु वशिष्ठ आए वहाँ भरतादिक के साथ आते ही श्री गुरुवर बोले हे राम छुपी अब कहता हूँ बरसों से बंध कर बंधन में किस लिए अवध में रहता हूँ संपूर्ण सुजन यह कहते हैं उपरोहित कर्म ने अच्छा है फिर भी मैंने ब्रह्मा जी की अब तक पाली यह आज्ञा है कारण क्या था कह दूँ जिससे मैंने यह भार उठाया था रामावतार का लाभ मुझे चतुरानंद ने बतलाया था बसी इसी लाभ के हेतु रहा उपरोहित की कहला कर मैं इस श्याम मूर्ति को प्रेम यज्ञ छाती में दबा दबा कर मैं अब आज योग से देखा है साकेत धाम तुम जाते हो अपने इस वृद्ध पुरोहित को बोला क्या ध्यान दिलाते हो बस यही चाहता हूँ तुमसे यह हृदय तुम्हारा धाम रहे ओ जाय राम मैं रोम रोम इस रोम रोम में राम रहे मस्तु कहते हुए उठे प्रभु तत्काल गुरुवर के चरणों में दिया शीस निजलाल